फिर जब वो औरतें अपनी इद्दत की मियाद को पहुंचने लगें तो तुम या तो उन्हें भले तरीके पर अपने निकाह में रोक रखो या फिर भले तरीके से उनको अलग कर दो और अपने में से दो ऐसे आदमियों को गवाह बना लो जो अदल वाले हों और अल्लाह की खातिर सीधी सीधी गवाही दो लोगों ये वो बात है जिसकी नसीहत उस शख्स को की जा रही है जो अल्लाह पर और यौम आखरत पर ईमान रखता हो اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا